ऐसा करने का भी पद्धति बताया इनका जो वो भी नहीं हो सकता है बड़ा कठिन काम है क्या करें नहीं तब तो अच्छा चलो अहरात्र वही प्रजापति तस्य हरेव प्राण रात्रेव रही प्रारंभ एते प्रस्तंदी ये दिवारत्या संयुज्यम दे ब्रह्मचर्य में वतत ये रात्रो रत्या संयुज्यम दे अहोरात्रो वै प्रजापति ये दिन रात की जो 24 घंटा है सात घड़ी अंग्रेजी के हिसाब से 24 घंटा देसी भाषा में सात घड़ी वाली या सात दंडात्मक यह जो हमारा दिन रात का समूह है वो क्या है यही प्रजापति है इसमें भी तस्या उस अहर अहरात्री जो प्रजापति का अवय होता तो जो अह भाग है दिन दिन का जो भाग है वही प्राण है वही अत्ता है वही आदित्य है वही अग्नि है और जो रात्रि भाग है रात्र वही रही है वही अन्न है वही चंद्रमा है और जो लोग ऐसे उपासना करते हैं या नहीं भी करते हैं अज्ञान रस दिन में ये दिवारत्या चलते जो दिन में स्त्री के साथ रतिभाव भाव को लेकर के संभोग कर लिया करते हैं वे लोग एक प्राणम एवं प्रस्कंदन वे अपने प्राण का नाश कर लिया समझो है जो लोग यदि रात्रो रत्यासम गए जो रात्रि में ही उचित गर्भाधान संस्कार के उपयोगी मुहूर्त में ही या गर्भाधान नहीं करना चाहते तो पहले जमाने के लिए दवाई की जरूरत नहीं थी मंत्र से ही उसकी प्रक्रिया है किस प्रकार से संबंध करने पर जो है गर्भिणी नहीं होगी हर महीने का नियम है कि जो स्त्री रजस्वला होने के बाद तीसरे दिन के बाद छठे दिन के रात के अंदर तीन चार पांच छह इन्हीं रातों में जरूर उसके साथ संबंध करना चाहिए ग्रस्त को पति को और उसके अंदर जो उद्वेग उत्पन्न हो उसको शांत करना चाहिए नियम चाहे संतान पैदा करना हो या ना भी हो उसे कोई लेन देन नहीं और गर्भाधान करनी है तो मूर्त समय देखो फिर तीन से बारहवीं तक रात तक है तीसरी रात से बारहवीं रात तक उसे विषम दिनों में है या सम दिनों में करोगे लड़का लड़की क्या चाहिए उसी हिसाब से और किस प्रकार की योग्यता वाला चाहिए उस प्रधान अंतिम तीन ब्राह्मणों को देखोगे सब वर्णन किया है कितने वेदों का पाठ करना क्या करना क्या क्या पूजा पाठ करनी है और गर्भान संस्कार की पूरी विधि विधान तो ही है उसके अनुसार यदि करता है तो निश्चित रूप से योग्य बालक प्राप्त होगा ही ये योग्य कन्या जैसे वो चाहेगा वैसे प्राप्त होगा और नहीं तो गर्भ नहीं स्थापित करना चाहता है उसका भी विधि है उस विधि के अनुसार संबंध करेगा तो गर्भ स्थापना होगा नहीं और जो अन्य विधि है जो रजस्त्री के अंदर आएगा जो उद्वेग का शांति करने का अधिकार है उसको और उचित भी है नहीं करेगा तो अनर्थ होता है वो सारा वर्ण आदि या स्त्री के स्वधर्म का से च्युत होने अर्पित दोष जिसके से कोई स्त्री का दोष है वह दोष का भी निवारण हो जाता है जैसे प्रमाण आप पूछोगे प्रमाण साफ है दिलीप राजा की कहानी दिलीप राजा क्यों आ रहे थे सब लोग से कामधेनु का अपमान क्यों किया कि समय बीत जा रहा था वो अंतिम रात्रि थी सुदक्षिणा का पहले सोलह थी उसका तीन दिन बीत चुका था फिर तीन बीत चुका था छठा का रात था वो और उस रात के साथ रात यदि संबंध नहीं करते तो धर्म का हानि धर्म का विधि है इसलिए जल्दबाजी में आ रहे थे तो कामधेनु का उन्होंने परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए नहीं किया इसमें संतान नहीं हुआ अभिशाप हो गया वशिष्ठ जन्म को बताया कि तुमने ऐसे ऐसे किया इसी वजह से रघुवंश में पूरी कहानी आती है रामायण में भी सब जगह है तो फिर इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया वह कामधेनु का बेटी नंदिनी जो वछड़ी के महर्षि के आश्रम में था उसकी सेवा पति पति दोनों आकर के एक साल पर वह भूमि शैया करते हुए सेवा करते नंदिनी का तब उसकी कृपा से राजा रघु का जन्म होता है तो ये शास्त्रीय विधियों का परिपालन नहीं हुआ उसके बाद उल्लंघन हो गया आज तीसरे से छठे नहीं जब मर्जी तब होने लगा है तब से सब गड़बड़ हो गया है दिन में भी दिन दहाड़े भी इसे कहते जो दिन में ऐसा करेगा और आप प्रतिस्कंदन दे जो रात्रि में ही करता है उचित समय में जो विजयी है विधि के अनुसार जो करता है वो वास्तव में अखंड ब्रह्मचारी है स्त्री समन करने के बाद भी कहते ब्रह्मचर्य में वह ब्रह्मचर्य ही है अखंड ब्रह्मचारी है एक और कहानी भी आते अखंड ब्रह्मचारी के लिए देखो सौ संतान का बाप वशिष्ठ और अविवाहित विश्वामित्र अविवाहित है विश्वामित्र अविवाहित होते हुए शतपुत्र वाला होते हुए वशिष्ठ को कहा कि अखंड ब्रह्मचारी है विश्वामित्र कहते महागृहस्थ क्यों परीक्षा हुई तो विश्वामित्र जी को कहा गया भैया आप जो है कहे गंगा जी तब तो रास्ता दे देगी मैं अखंड ब्रह्मचारी से मिलना चाहता हूँ तो गंगा जी आपको रास्ता देगी आप आर पार हो जाओ उन्होंने कहा तो रास्ता दे दी चले गए वजीर से गया जब लौटने लगे फिर पानी भरा तो गए वजीर के बाद महाराज क्या आप कैसे जाऊंगा मैं उन्होंने ऐसा बोलो मैं विश्वामित्र महाग्रस्त महाकामी अपने कुटिया जाना चाहता हूँ तो रास्ता दे दी ऐसा बोले तो रास्ता मिल गया चल पड़े आप बाहर जगह सोचने लगे ये कैसी बात है भाई उल्टा काम है वो तो हर महीना संबंध कर रहे हैं और सौ बच्चे पैदा कर चुके वो महाब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी मैं शादी भी नहीं किया एक किसी स्त्री संबंध नहीं कोई बच्चा पैदा नहीं किया और मेरे को करे महाग्रस्त महाकामी बड़ा उनके मन में खेद हुआ बड़ा अपमान वाली बात है सिर्फ ड्रामाबाजी क्यों हुई इस तरह की अंदर ही अंदर कोड़ कोड़ो कर रहे थे तो इधर रात भयंकर वर्षा हुई भारी वर्षा अब उस बीच वसठ जी एक स्त्री का वेश में ज्ञाप थी औरत बन गई औरत बन करके जो है भीगे भीगे भीगे भीगे दौड़े दौड़े दौड़े आए बचाओ बचाओ भाई बचाओ कोई ठीक विश्वामित्र कुछ के सामने में हल्ला मचा दी विश्वामित्र धड़ बाहर आए अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कहा परेशान हो रही हो अब ऐसा सारी पहना हुआ अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहा है अब बस क्या कहना तो विश्वामित्र की खोपड़ी गोल हो गया अब कहा कि भाई ठीक है लो दूसरा कपड़ा उपड़ा भी दिया और कहा कि बगल वाले झोंपड़ी में उसको कहा विश्राम करो जब सुबह हो जाए तब आराम से जाना धैर्य रखा है लेकिन फिर मन भले खराब हो रहा था लेकिन धैर्य रख करके उसको दूसरे कुटिया में सुला दिया और अपना खुद अपने कुटिया में नींद आ गई कैसे और उधर वो कुटिया में वो वशिष्ठ जी अपना हरजल रोक बैठ गए ध्यान भजन स्त्री शरीर धारण किए थे सिद्धि से उसको त्याग करके अपना वापस ऋषि शरीर में बैठ गए अब इधर जो नींद ना आवे परेशान यहाँ से गया अब कैसे करें हल्ला उल्ला हो जाए कहीं सुन लेंगे दूसरे तो ब्रह्मचारी लोग जो आश्रम में रहते हैं पता नहीं लगना चाहिए किसी को बड़ा धीरे धीरे धीरे बड़ा मुश्किल से किसी तरह झोंपड़ी में घुस गए तो घुस के अंदर देखते हैं तो वो सीढ़ी तो उन्होंने कहा बताओ महाकामी कौन अखंड ब्रह्मचारी कौन इसे बाहर से कुछ नहीं है अंदर से सब कुछ मन में भरा है वासनाएं बाहर से करो ना करो समुद्र से क्या फर्क मन से तो काम कामी है तीसरे यहां पर कहा कि रात्रि में विधिवत यदि कोई संबंध करता है तो वो अखंड ब्रह्मचारी इसमें कोई संशय नहीं है अच्छा लाइसेंस मिल गया आप लोगों के लिए सो भी मासात्मा प्रजापति एक सौ भी मासात्मा प्रजापति स्वावय पर समाप्त है पूर्वक पूर्व के समान वह जो मास रूपा जो प्रजापति था वो अपना वय बुध अहोरात्रात्मक षष्ट दंडियात्मक दिवस में परिसमाप्त हो गया अच्छा उसमें उसमें भावना कर देनी है जैसे गंगा जी को जैसे बताया गया था करस्त जल में गंगा जी की जो है भावना कर लेते कितनी पूरी गंगा जी हाथ में तो आ नहीं सकते रात जल को भी आप गंगा जी मान लेते ठीक उसी प्रकार तस्या भी अहर एवं प्राण तारस प्रजापति का भी अहर क्या है प्राण है अत्ता अग्नि आदित्य रात्रि रही चंद्रमा अन्नम पूर्वत पूर्व के समान ये विभाग को एक ही प्रजापति को दिवस में विभाग करता हुआ समझना है प्राणम वह आत्मान वे प्रस्कंदी कहते अह प्राणम मैंने आत्मान व प्राण का मतलब अहरात्मा अहरात्मान प्राणम अहर रूपी जो प्राण उसको एते प्रस्कंदंती वे लोग अपने ही विच्छादन कर लेते नाश कर ले रहे हैं कौन निर्गमयंती शोषयंती वो विच्छिद्य आपनयंती वे वास्तव में निर्गमन कर रहे निर्गमयंती उसी को व्याख्या कर दिया शोषयंती प्राणम आहारात्मा वायते प्रस्कंदी निर्गमयंती शोषयंती वा स्कंदी गति और शोषण दोनों अर्थ में होता है ना इसीलिए एक तो उसने पुरुष ने तो अपना शरीर का वीर को भी नुकसान कर लिया और साथ साथ अपने आप को सुखा भी दिया क्यों ये कौन है वो जो जिनकी ऐसी हो जाती स्थिति कभी जो लोग दिवा मन अहनी प्रत्या प्रतिकरण भूता शस्त्रिया संयुजनते मिथुनम आचरती मूढ़ा जो मूढ़ लोग प्रतिकर्म में प्रवृत्त हो जाते और रति कारण रति का कारण ये भूता जो स्त्री के साथ संबंध है तारस मैथुन को आचरण करते हैं दिन दहाड़े कर लेते हैं जो यद इसलिए ऐसा है तस्मात कर्तव्य प्रतिषेध प्रासंगिका का कहना एक तरह से प्रासंगिक विधि है ये निषेध विधि कर दिया गया इसलिए दिन में कभी किसी भी प्रकार का इस प्रकार के भाव को प्राप्त नहीं करना चाहिए और यद रात्रो संयुज्यम दे और ब्रह्मचर्य में तदिति और जो रात्रि में संबंध करते हैं विश्व से रति के लिए प्रवृत्त होते हैं अर्थात ऋतो ऋतुकाल में स्त्री का जो ऋतुकाल का मतलब तात्पर्य यही है ऋतु के समीर सन्निधि में औपश्लेषिक वृक्षेश ना कैसे पेड़ के ऊपर गाय चढ़ के सो गई ऐसा करोगे है ऐसा अर्थ नहीं ना अर्थ यही होगा पेड़ की छाया में पेड़ के नजदीक सब सोई हुई है सारी गाय उसी प्रकार ऋतु काल ऋतु के काल में ही ऐसा नहीं उस ऋतु के काल के पश्चात तीन दिन के बाद विधान किया ऐसा करुणान्य विस्तार किया है ऋतु का मतलब ऋतु बार्यम उपगछ ऐसा विधि है ऋतु बार्यम उपया ऐसा जो विधिया है उन विधियों का तात्पर्य वेदों में बताया कि उसका जो तीन दिन या कभी पांच दिन कभी चार दिन किसी जैसे होती हो उसके तीन दिन बाद से शुरू होता है नंबर एक दो तीन गिनना पड़ता है उसके बाद से तो ऋतु ऐसे करने वाले क्या है ब्रह्मचर्य में वतिथि प्रशस्त ऐसा प्रशस्त होने के नाते ऋतु बार्य गमन कर्तव्य विधि विधि इस ऋतु काल के पश्चात वह जो है रात्रि में ही भार्या का गमन करनी चाहिए यह एक तरह से विधि हो गया अयम भी प्रासंगिक विधि लेकिन ये भी प्रासंगिक है देखिए विधि करने की अपेक्षित है अन्य विधि तो हो चुका है प्रासंगिक कथनिया हो रहा है प्रकृतंतु उच्चते प्रकृत क्या बात है वो स्पष्ट करो है सो अहोरात्रात्मक प्रजापति ब्रीहवाद्यन्नात्मना व्यवस्थित क्योंकि यह प्रकृत कहने से तात्पर्य क्या है जो दिन और रात आत्मक प्रजापति है वही ब्रीहवादी अन्न और अत्र भाव से स्थित है अन्नत्र भाव से वही है अर्थात दिन में भी रात्रि का दृष्टि हो सकता है रात्रि में भी दिन का दृष्टि हो सकता है दिन रात उभयात्म तो प्रजापति प्रजापति आप अनुभव करोगे तो दिन भी आपके लिए क्या हो जाएगा दिन रहेगा ही और रात्रि भी दिन हो जाएगा और यदि उसमें रात्रित्व अवच्छिन्न तो प्रजापति की उपासना करेंगे तो अगले दिन भी रात हो गया रात तो रात है ही दिन भी रात हो जाता है जैसे कल अनुवाद मास में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार यहाँ भी समझना है एवं क्रमेण परिणम्या इस प्रकार से वह परिणाम को प्राप्त होते होते होते प्रजापति वह ईश्वर जो प्रथम जय हिरण्य गर्भ है वह क्या हुआ अन्नम वही प्रजापति तथो हई तद रेत प्रजा प्रजायंत अन्न ही प्रजापति है अब तक दोनों भाव बताते रहे और एक को प्रधान दूसरे को उपासना विधि था है ना संवत्सरा तक पता प्रजापति बता दिया उसे उत्तरायण और दक्षिणायन दो भाग कर दी मास तक प्रजापति इसे उत्तरायण और फिर उससे भी जो है शुल्क निष्पक्ष कर दिया फिर अहोरात्र तक तो प्रजापति में दिन और रात्रात्मक उभयात्मक रूप से वर्णन करते आए थे जिनमें पहले भी वर्णन आया कि भाई वही रही और प्राण है जो वही सूर्य चंद्रमा है ये भी सब कह करके एक दृष्टि उपासना करने का विधान किया और सफल का भी कथन हुआ अपूर्ण रूपेण वाह वही प्रजापति अन्न प्रधान हो गया अत्र प्रधान व्याख्या थी ये सब और अब अन्न प्रधान कथन हो रहा है अन्न वही प्रजापति ही तथो हवाई तद्रेद अन्न ही प्रजापति है उसी से प्रजा का कारण रूप वह वीर हो जाता है अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति का कारण तो पूछा था प्रजा की उत्पत्ति का कारण वीर और रज रूप हो जाता है पुरुष में वीर रूप और स्त्री में रज रूप हो जाता है और उस वीर से ही तस्मात इमा प्रजा प्रजायंत ये मनुष्य आदि रूपो संपूर्ण प्रजाएं उत्पन्न होती हैं एवं क्रमेण परिणम्य रही क्रम से पहले रही बताया फिर उसको प्राण बताया रही प्राण पहले बताया फिर आदित्य चंद्रमा बताया फिर संवत्सर अयद्वय रूपेण मास पक्षद्वय रूपेण और दिवस अहोरात्र रूपेण कथनीय परिणाम का क्रम क्रमेण परिणम तत् अन्न वही प्रजापति वह प्रजापति अन्न रूप ही है समझे अन्न वही प्रजापति अन्नात्मक हो जाता प्रजापति अन्नात्मक हो गया क्यों हुआ खत्म किस प्रकार से तथा तस्मात अवैरे तो क्योंकि इसे प्रजाओं को उत्पन्न करना है ना तो सृष्टि करने से क्या फायदा है इसलिए कहते तस्मात वही तो उसी से भक्षिता करना तस्मात अन्न से कैसे अन्न हो जाएगा तो खाए पीवे के बाद भक्षिता समझना पड़ेगा अच्छा भक्षण यार अन्य दोष वगैरह आएगा आपका दोष भी आ जाएगा कि भाई प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए अन्न को पैदा करना है अन्न से ही प्रजापति पैदा हो रहे हैं माने प्रजा उत्पन्न हो रहे हैं ठीक है अन्न खाए वीर हो प्रजा उत्पन्न चल प्रजापति कैसे पैदा हुआ बिना अन्न का बिना वीर का यदि प्रजापति बिना अन्न वीर का हो सकता तो बाद में भी हो सकते क्या जरूरत है वीर है या नहीं यदि प्रथमज बिना का पैदा हो गया था बाकी प्रजाओं के विधान तो का उत्पत्ति का क्यों इतना लंबा दौड़ा कथा हो रहा है कह देते सीधे सीधे शुरू में इतना लंबा ना बताकर सीधे कहते अरे भाई वो ऐसे ही ब्रह्म में परिकल्पित होकर इकट्ठे सारे पैदा हो गए बात खत्म थी किससे पैदा हुआ उसके इतना लंबा कहानी ये तुम तो स्वप्न में सब बना लेते हो ऐसे सारे इकट्ठे हो गए तो प्रजाति सब इकट्ठे हो गए और ऐसे होते ही रहते हैं कोई कार्य का अनुभव नहीं ऐसे क्यों नहीं कहा और के क्रम बताते हुए अन्न से कहते प्रजा उत्पन्न होगा और ये कहोगे प्रजापति से अन्न हुआ और अन्न से प्रजा हुए और प्रजाओं के कारण से प्रजापति हो गया तो अन्यनाशा दोष हो जाएगा अथवा बहुत सुंदर टिप्पण कर विचार किए देखिए दन्ना दीदी तीन नंबर टिप्पण न भक्षक स्तो न अद्याप समझ निष्ठा भक्षक तो पैदा ही नहीं हुआ जो भक्ष्य की हत्या कहा पैदा की है पूर्वक्षी कहता है को भक्षे रेत सो ही तेल उत्पत्तव्य कौन भक्षण करेगा और उसे रेत कौन पैदा करेगा और उसे प्रजा कहा से उत्पन्न होगी रेत तस्माय अन्योन्य आश्रिता इसे अन्योन्य आश्रित तो स्पष्ट यहाँ नहीं तो प्रजापति रहेगा पक्षी प्रजापति खाएगा फिर प्रजाओं को पैदा करेगा तो भी नहीं हो सकता ये शाम प्रथम यो ही अंतरेणाविरहित हो मित्र उत्पादित कि वसो तदर्थम पक्षी जो वीर के बिना अन्न के बिना एक मिथुनों को पैदा कर डाला है रही प्राण चंद्रादित्य और समस्त हो रहा है अयन द्वय सबको बिना वीर का बिना अन्न का पैदा कर दिया उसको अब क्या जरूरत पड़ जाएगा अन्न का जितना पैदा करने वाला प्रजा पैदा कर सकता है बिना वीर का अन्न का इसलिए प्रजापति को प्रजा बाद में जरूरत पड़ गया ऐसे कहना उचित नहीं है चेत सत्यम प्रजापति ना एवं रही प्राण मिथुनम इव मनुष्य रूपाख्यम अपरम मित्र मंत्रेण रेतसा उत्पत्तिया उत्पाद्य असली बात यह है वो अत्ता को भी पैदा कर दिया क्या मन और शत्रु का बिना पहले अन्न का बिना अन्न का अन्न को खाने वाले को उसने पैदा कर दिया उन्हें जरूरत है अन्न की मन और शत्रु का प्रजापति को जरूरत नहीं इसलिए इस उपनिषद में उस ब्रह्मांड के मंत्र को जोड़ के समझना पड़ेगा अन्न पैदा किया इसका पहले वो जैसे दो दो बनते हुए गए जोड़े वैसे वो मनोर और शत्रुपा भी बन गया ऐसा तेरहवें और चौदह मंत्र के बीच में एक मंत्र समझना है जोड़ लेना अहोरात्र बन गया उसके बाद मनुष्य रूपा बन गया अब मनुष्य रूपा कहने लगा भैया हमको भोजन तो दो हम भूखे हैं भाणित्य करो तो ऐसे मुंह से भा करने लग भूख लगाए तब उसने अन्नो वही प्रजापति रोटी डाल दिया जहां डाला बस चालू हुई सारा मशीनरी काम करना जहाँ काम करना चालू किया तो उसका वासनाएं भी जग गई सब हो गया फिर वो दोनों समन करना चाह लेकिन मुझे मालूम था दोनों हम दोनों का तो पिता एक है हम तो भाई बहन है कैसे होगा लेकिन वो कामात्र होकर के जब दृष्टि डालने लगा वो भागी फिर वो घोड़ी बन गई ये घोड़ा बन गया वो घोड़ा ये नहीं वो गरी बनी ये गधा बना करते करते गाय बनी ये सांड बना ऐसे पूरा मिथुन संसार सृष्टि उत्पन्न हुआ ऐसा वर्णन आता है बृदारण्य के उपनिषद में उसको यहाँ संबंध जोड़ लेना यदि बृदारण्य के थे तदेव भवे पक्षयितु वही पक्षयिता है तदस्त भवे रेत सी प्रजा ग्रहण तो उसी के माध्यम से जो है रेत बन गया वीर आदि और उससे जो है वस्तुस्तु प्रजापति सर्वात्मा ब्रह्म यत्र विवक्षित है वास्तव में यहाँ प्रजा उत्पत्ति भी लक्षित नहीं था प्रश्न का तात्पर्य सर्वात्म प्रजापति कैसे ये तात्पर्य प्रजा कैसे उत्पन्न हो गए अर्थात ये सब प्रजाएं प्रजापति कैसे हो गए ये समझाओ ये अनवी है ये अत्ता भी है उभयात्म तो कैसे हो गए ये प्रश्न का इसलिए तात्पर्य है इसे सर्वात्मक तो मात्र मदर लक्षण है नैव नैव क्रम इति अनवध्यम नैव क्रम इस क्रम वहां पर वास्तव नहीं है इसे निर्दोष बात खैर चलिए तथा तस्मात बीजम तत्प्रजा कारण तस्माद योषति सिक्ता मनुष्य लक्षण प्रजा प्रजायन्ते यम कुतो हई प्रजा प्रजायन्त उस अन्न को खाए हुए अन्न से ही रेत जो मनुष्य सकल योनियों का बीज होता है निर्वीजम जो कि प्रजा का कारण है वह उत्पन्न हुआ अब उससे भी कैसे प्रजा हो गए क्योंकि उससे आपने क्या किया योशिपात स्त्री में उसका जो है सेक कर दिया सिंचन कर दी गई तब इमान मनुष्य रक्षण प्रजा मनुष्य द्रव्या ये चौरासी लाख योनि विभिन्न प्रकार के शरीर प्रजायंते जिसको तुमने पूछा था वो तो हवाई प्रजा प्रजंती तदेव चंद्रादित्य मिथुन मिथुनादि क्रमेण अहोरात्रांतेन अन्न असक रेतु द्वारे प्रजा निर्णीतम चंद्रादित्य मिथुन के क्रम से अवरात्र पर्यंत रहने के पश्चात अन्न और अन्न से क्या हो गया असुक मैंने खून आदि सारी चीजें पैदा हुई वीर पर्यंत और उन्हीं के द्वारा जो है उत्पन्न हुए हैं यह बात निर्णय हो गया अब इसका एकदर्श जो प्रजापति विद्या इसकी फलस्तुति भी कर रहे हैं तो पहले कहा था ना इस विद्या को जानने वाले लोग उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और जो केवल कर्म करते हैं वो दक्षिणायन मार्ग जाके लौटते हैं न सब पुनरावृत कहा गया पुनः न पुनरावृत और यह पुनरावृत हो जाता है दक्षिणायन वाला तो वो फल को ही स्पष्ट करते तत्ये हवई तत् प्रजापति व्रतम चरम दे ते मिथुन उत्पाद तेषामे ब्रह्म लोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठितम कल ये हो वही तत् प्रजापति व्रतन दे जो कोई भी लोग उस पूर्वक प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं अर्थात प्रजापति नहीं अहोरात्रात्मक युग्म को समझता हुआ मिथुन को समझता हुआ रात्रि मात्र ऋतो भार्याम समागत के आधार पर ऋतु उत्तरकालीन तृतीय दिवस से आरंभ करके अष्टम दिवस या द्वादश दिवस पर पुत्र प्राप्ति करना हो तो कथित विधि के अनुसार ही जो पत्नी के साथ संबंध करता है पुत्र प्राप्ति या अप्राप्ति के लिए संतान या अप्राप्ति की विधि है तो उन विधियों के आधार पर ही जब संबंध करता है तो वो व्यक्ति को कहा जाता वो प्रजापति व्रत का अनुष्ठान कर रहा है इसलिए आप लोग तो कर ही नहीं सकेंगे प्रजापति व्रत को जो अखंड ब्रह्मचारी बने रहना चाहते हैं तो नहीं सपत्नी होकर के भी अखंड ब्रह्मचारी हो सकते हैं उसके लिए प्रजापति व्रत सपत्नीक होते हुए या जो आज की जो मॉडर्न भाषा में सचेली होते हुए यदि अखंड ब्रह्मचारी बने रहना चाहता है तो उसके लिए प्रजापति व्रत है कि नहीं तो वो जो प्रजापति व्रतन चलती ते धर्म उत्पादन ये निश्चित रूप से ये नहीं होगा उनके घर में क्यों लड़कियां पैदा हो रहे हैं क्यों लड़का ही पैदा हो रहे हैं नहीं लड़का लड़की दोनों पैदा होगा केवल लड़का होना भी गड़बड़ लक्ष्मी रहित घर हो जाए केवल लड़कियां पैदा होना भी ठीक नहीं बिना शंकर के क्या करे तो इसलिए शंकर भी चाहिए पार्वती भी चाहिए दोनों ही जोड़े हुए चाहिए तो जो प्रजापति व्रत को चलेगा निश्चित से मिथुन उत्पादन है लेकिन साथ साथ तपो ब्रह्मचर्य ईशा तप ब्रह्मचर्य तेषाम एवं ब्रह्मलोको लेकिन साथ साथ जो लोग तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान क्या करते हैं वे ही लोगों के प्रति येषु सत्य प्रसिद्धम ये भी जो जिनमें सत्य भी प्रतिष्ठित है उन्हीं लोगों के लिए यह प्रजापत्यात्मक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है चंद्रमा चंद्रलोक यहाँ पितृलोक है वही यहाँ ब्रह्मलोक शब्द से कहा जा रहा है चंद्र पित्रात्मक जो ब्रह्मलोक ऐसा समझा क्योंकि वह व्रत कर रहा है केवल उपासना विद्या को लेकर के नहीं चल रहा है केवल उपासना ही रहित केवल कर्म कर रहा है तत्र तत्र एवं सती ये गृहस्था इसलिए कह दिया गृहस्थों के लिए गृहस्थों के लिए स्पष्ट कौन ये गृहस्था हा वही प्रसिद्ध स्मरणार्थ निपात प्रसिद्ध स्मरण करिए निपात है तत् प्रजापतेर व्रतम हृदय भार्या गमन चलती कुरंती देशा दुष्टफलम इदम जो तक व्रत है पूर्वोक्त क्या है वो इस ऋतु काल में ही भार्या गमन का कथन किया गया था उसका अनुसरण करके अनुष्ठान करते हैं उन लोगों का दृष्ट फल यह है विक्रम उत्पादिया अदृष्ट फल चंद्रात्म प्रभु लोक प्राप्ति किम क्या है दृष्ट फल मिथुनम पुत्रम द्वितरम च उत्पाद पुत्र और द्वितर दोनों को पैदा उत्पन्न करते हैं कारण उनके वंश में कभी न तो क्लीबम विधि भावा कभी नपुंसक पैदा नहीं होती ये इसकी विशेषता है अदृष्ट अदृष्टम क्या है कार्य नाम तेषाम इष्ट पूर्त और दत्त गुण का कर्मों को मात्र करने वाले उन लोगों के प्रति ऐसा या चांद्रमसो ब्रह्मलोक त्रियाण लक्षणों केवल कर्म कर रहे हैं ना वो इष्ट कर्म कर रहे हैं उपासना नहीं हो रहा है अभी प्रजापति व्रत भी प्रजापति विद्या भी वो केवल कर्म ही तो है ना बाह्य क्रिया ही है से कोई अब उसमें भी जोड़ना है जो हृदय परिषद के अंतिम तीन ब्राह्मणों में कहा है उसको भी एक अग्निहोत्र बताया वो भी एक अग्निहोत्र या जैसे प्राणाग्निहोत्र करते ना पंच प्राणावती देख करके ये मानकर वैश्वान रूपेण साक्षात प्रजापति ब्रह्म परमात्मा ही अन्न भोजन का रहा है इधर नम नम स्वाहा स्वाहा बोलते जाओ जो भी इष्ट देवता का नाम लेकर के स्वाहा करते खाते जाओगे तो आप खाना खा ही नहीं रहे हैं वो तो क्या हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है आपने भोजन किया ही नहीं दृष्टफल आपका भूख तो क्षुदा निवृत्ति हो रहा है लेकिन वास्तविक है अदृष्ट फल भयंकर हो जाता है उसका जबरदस्त अदृष्ट फल मिलेगा यज्ञ रूपेण हम भोजन खाना भी संपादन करें पहले तो जीवन को यज्ञ रूपेण कथन करें छांदोग्य में भी चौबीस साल फिर अड़तालीस साल फिर गिनेंगे ना और तो प्रत्येक प्रातः स्वर्ण सरल साय सवन रूपेला संपूर्ण आयु ही एक सोमयाग रूप बन जाता है उसे सोमरस क्या है क्या नहीं है सब विचार उस उपनिषद में देखा जाएगा तो जीवन ही एक यज्ञ है उसमें भी हमारा दैनिक जीवन के अंतर्गत होने वाले दिनचर्या में भी प्रत्येक क्रियाकलाप को यज्ञ रूप धारण किया है और उसमें अलग अलग स्थान बन जाते हैं आप जो विषयों को ग्रहण कर रहे भी यज्ञ हो रहा है हृदय रूपया होनी या अग्नि में आ विषय रूपी जो आहुतियों को प्रदान कर रहे हैं भोजन में तो ही सीधा यहाँ जा ही रहा है दंत तो धावन से लेकर के स्नान से लेकर के हर क्रिया को यज्ञ रूप बताया गया है वैसा भावना करते नहीं बात लगे इसलिए पशु है इसलिए ही देवा नाम पशु बने हुए है ना निर्गा को बने रहती देवा नाम पशु वो दृष्टि वह उपासना के अभाव के कारण से बस जा रहे हैं स्वर्ग तक तो फिर वापस लौट रहे हैं न यहाँ मुक्ति न वहां मुक्ति चक्कर काटे जा रहे उन विधियों को उन उपासनाओं को समझ के भी करते तो कम से कम लोग पहुंच जाते लौटते तो नहीं यहाँ न सत्यो मुक्ति हो रहा है न क्रम मुक्ति हो रहा है कारण की कि पशुत तो हम लोग भी नहा रहे हैं पशुत तो हम लोग भी खा रहे हैं पशु सारा काम हो रहा है आहार निद्रा नहीं वो इतना तो वाली बात सब कुछ पशु तुल्य ही हो रहा है कहने के लिए अपने आप सोचे कि हम बहुत बड़े विवेकी और बुद्धिमान हो गए देखो ना बढ़िया टाइट टू पहन करके टेबल पर बैठ के आराम से चम्मच से खा रहे हम हाथ भी नहीं लगाते कितना बढ़िया पवित्रता से हाइजेनिक ईटिंग <laughs> नहीं और ये नहीं समझना उसे बड़ा बेवकूफ नहीं है जो ऐसे कर रहा है जब तक उसमें वह दृष्टि नहीं आदि शास्त्रीय दृष्टि जो बताई गई है तब तक उसका खाना अभी पशुवध खाना ही तो हुआ उल्टा रात ग्यारह बारह बजे खाने लगे हैं आजकल के लोग तो राक्षसी भोजन करने लग गए और भी ज्यादा खराब हो गए तो इसीलिए कहते ये सारी चीजें उसी को मिलेगा जो उत्तरायण मार्ग की क्रमुक्ति की बात वो या नहीं है ये तो चांद्रमसो ब्रह्मलोक का पितृयान लक्षण हो ये तो चंद्रलोक को ही प्राप्त करेगा जो कि लौटने वाला रास्ता है पुनरावृत्ति वाला मार्ग है ये उसी को प्राप्त करता है ये शान तपा स्नात व्रतादीनी जिनके पास तप भी है ऐसा तप स्नात व्रतादीनी स्मृति आदि में कहा है ने छेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादि अस्तम ज्ञातम कदाचन नोपसुष्टम नवारिस्तम नवध्यम नवसो गतम उगता हुआ सूर्य को नहीं देखना डूबता हुआ सूर्य को नहीं देखना बादल के पीछे तो सूर्य को नहीं देखना ग्रहण ग्रस्त सूर्य को नहीं देखना इत्यादि नियम बताए तस्े व्रतम इसके आधार शुरू करके मनुस्मृति कार विभिन्न ब्रह्मचारी के व्रतों का कथन किया है यावत ब्रह्मचर्य यावत समावर्त संस्कार होता नहीं गुरुकुल से तावत परिंद नियमों को पालन करना चाहिए उन व्रतों को भी पालन किया पुरुष तादृश पुण्य प्रताप से युक्त होकर जब ग्रस्त आश्रम में जाता है और उस ग्रस्त आश्रम इष्ट पूर्वत कर्म पर प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करने वाले को ही फल मिलता ऐसा जो तो नहीं है वो चाहे समरस वाली इसलिए जनसंख्या बढ़ रही सब चाहे समरस वाले ही हो गए जनसंख्या देश में क्यों बढ़ रही विश्व भर में कारण यही है कोई भी इस प्रकार से न ब्रह्मचर्य आश्रम पालन हो रहा है न गुरुकुल पद्धति रह गया नहीं तद विशिष्ट होकर के न गृहस्थ आश्रम में आ रहा है न प्रजापति व्रत हो रहा है इसे जो भी मरे खुश वो चांद्र लोग भी नहीं जा रहे वहां भी नहीं जा वो वो भी गेट बंद है उनके लिए जाए सौम्र यहीं से यहीं से अमेरिका से भारत भारत से अमेरिका में यही जन्म हो रहा है कभी चला जाता होगा भारत में भी इसे संस्कार वैसे बन जा रहे हैं खिचड़ी संस्कार है हाँ इसमें नियम है ना ये दिया ना नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम अस्तम यातम कदाचन नोपसृष्टम न वारिस्थम उपग्रष्ट बने ग्रहण ग्रहण से उपग्रस्त नवार स्तंभ बादल के बीच न मध्यम न बसो कदम ठीक मध्यान्ह के बारह जो बीच में जो होता है लव के आकाश के मध्य में गत सूर्य को नहीं देखना चाहिए अच्छा इत्यादि और भी कई नियम है मनुस्मृति पढ़ लेना है उसमें आ जाएगा स्नातक व्रतादि नहीं थी ब्रह्मचर्य मन निर्गव अन्यत्र मैथुना असाचरण ऋतुकाल से भिन्न काल है मैत्र तो असमचारणी ब्रह्मचरी है ब्रह्मचर्य ये शुच सत्यम अनृत वर्जनम ये शुच जिनके अंदर सत्यम मैंने अनृत वर्जनम झूठ नहीं है वह प्रतिष्ठित अव्यविचारितया प्रतिष्ठित क्यों कहना येषु सत्यम कह देते ये शांत ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिशतम का मतलब अव्यविचारित किसी भी बहाने से झूठ नहीं बोलने का ये झूठ क्या ये भी समझना बड़ा कठिन का झूठ और सत्य की परिभाषा आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है झूठ क्या है लोग ये समझते हैं जो जैसा देखा वैसा बोलना सत्य है जो जैसा देखा वैसा नहीं बोलना जो जैसा हुआ है वैसे ही कथन करना सत्य है जैसा हुआ नहीं वैसा बोल देना असत्य ये नहीं ये याज्ञवल के महर्षि अपनी योगी याज्ञवल संहिता में बड़ा से पर विवेचन किया है कदे जिन जिस कथन के कारण से धर्म का हानि होती हो अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ का अपमान हो जाता हो जो बदनामी होती हो या जिस वचन के मात्र से कोई सत कार्य में प्रतिबंध उत्पन्न होता हो वह सब झूठ है आप भले सही बोल रहे हैं लेकिन आपके उस आपके दृष्टिकोण से सत्य है ना एक लौकिक दृष्टि से आप बोल रहे हैं शास्त्र धर्म की दृष्टि से कहता है वह वचन आपके लिए घातक हो सकता है धर्म की हानि हो सकती है ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अपमान हो सकता है या कोई सद कार्य में प्रतिबंध पैदा हो सकता है ऐसा सत्य वचन भी झूठ है हम्म। और कुछ मैं विषयों में तो झूठ बोलने का लाइसेंस भी दे दिया गया और संग्रह में आया है ना टीका में एक जगह जैसे कन्या का विवाह करनी है दो चार झूठ बोलना पड़े कोई बात दान ही तो देना है अगर दान अगला लेने को तैयार नहीं तो दो तो चार झूठ बोल के दान दे दो दो तो सही देना तो सीखो वहां लक्ष्य क्या है देना सीखो उसके लिए झूठ बोल श्रद्धया देयम इसे लोग क्या अश्रद्धया देयम अरे दो तो सही क्या श्रद्धा दे दो चाहे अश्रद्धा दो देना सीखो इसमें दादा दा उपदेश दिया था ना दैत्य दान और देव के लिए द द द उपदेश जो आज बादल हमें संकेत करते हैं देवताओं के लिए कहा तुम जो दमन करो पहला द कर दमनम क्रिय इंद्रिय भोगी है वो भोग प्रधान है ना दानव गए प्रजापति के पास उसको कहे बोलते दगार क्या होगा दया करो तो बड़ा क्रूर होता है सबको खाने को तैयार होता है किसने कह दिया उसके लिए द का अर्थ दया हो गया मनुष्य गया मनुष्य लिए द उसका अर्थ क्या है अरे दान दो देना सीखो क्यों कंजूस होता है सेल्फ सेंटर्ड बहुत स्वार्थी होता है तो इसलिए इनका कहना है कि देखो ये सारी बातें जो कही गई है कदे ये जो वर्जन प्रतिष्ठा मैंने अव्यविचारित अव्यविचारित होनी चाहिए मैंने किसी भी वचन को बोलने से पहले सोच समझ लो कि परिणाम क्या होने वाला है ये नहीं कि मुंह में मदर कर बोलते गई जो आ गया सो बोलते गया बोलने से पहले सोचना पड़ेगा इसका परिणाम क्या होगा क्या इस धर्म की हानि होगी या धर्म की पुष्टि होगी ज्येष्ठ श्रेष्ठ का सम्मान इस वचन से बढ़ेगा कि घटेगा किसे सत्य कार्य का प्रतिबंध होता है या नहीं होता है किसके प्राण की रक्षा होती है या नहीं होती है ये विचार करके ही कभी कोई वचन कहना हो तो कहना चाहिए पूछे जाने के बाद बिना पूछे तो बोलना ही नहीं बिना पूछे तो बोलना ही नहीं वो ढूंढ रहा परेशान होने दो आप अपना जयराम जी करते हो क्या फालतू का रहे हो पूछे जाने पर इतने तत्वों पर विचार करते हुए ही कथन करना वही सत्य वचन है वही अव्यभिचारी वचन ये व्यभिचारी अभिचारी हो जाए अभी आप सत्य बोल रहे कल वो गड़बड़ हो जाए उल्टा हो जाएगा इसे जो लौकिकी सत्यता और अनता रितता को ले नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर यह अनृत और सत्य से शास्त्रीय परिभाषा है इसलिए यहाँ प्रतिष्ठिता विशेषण देकर अव्यविचारित्व कथन किया है तो शास्त्रीय जो सत्य है शास्त्रीय जो अनृत है वही अव्यविचारी है और लौकिक सत्य और अनृत बदलती रहते हैं इसे कोई भरोसा नहीं है व्यविचारी ऐसा जो नित्य में वही वर्तन देते नित्य इस प्रकार जो रहा करते हैं वे ही लोगों को वह चांद्र लोक की प्राप्ति होती है और दूसरे उत्तरायण मार्ग से आदित्य रूपी ब्रह्म लोक किसको प्राप्त होता है तेषाम असौ विरजो ब्रह्म लोक नयेश न माया चैती येष जीव अनृतम माया च न ब्रह्म लोको भवती जिनके अंदर न जिहम नान रतम न एक साथ जिहम रतम च न माया और माया भी जिहमाम जिहमाम का मतलब क्या कुटिलता कुटिल नहीं है छाल का पट नहीं करता और अनदम और झूठ नहीं इसके लिए वही कंडीशन तो एक कंडीशन तो बराबर है वो भी सत्य प्रतिष्ठित होना जरूरी है इसको भी सत्य प्रतिष्ठित होना जरूरी है लेकिन इसके लिए एक अधिकार जोड़ दिया वो तो कर्मी है वो कर्मी होने का मतलब वो गृहस्थी पक्का है और गृहस्थी में तो झूठ छल गबड़ किंचित करना ही पड़ता है बिना छल गबड़ के गृहस्थी चलाना बड़ा कठिन इसलिए आश्रम चलाना एक गृहस्थी है यहाँ भी झूठ चल कपट करना पड़ता है तो सारा काम बिगड़ जाता है छल कपट के आश्रम कैसे चला बड़ा मुश्किल नहीं अपना जेब चलाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है जब कोई आश्रम नहीं कुछ नहीं नहीं करते केवल अपनी जेब की व्यवस्था के लिए ही आप कर लेते हो झूठ छल कपट अब आश्रम चला कर रहा उससे ज्यादा गुना तो बोलना ही पड़ेगा और जितने बड़े पद में जाओ उतनी ज्यादा बोलनी पड़ेगी इसलिए पदों से बच के रहो तो अच्छा है नहीं जितने बड़े पद में जाओगे उतना ही ज्यादा झूठ छल कपट करना पड़ता है इसलिए उत्तरायण मार्ग चाहते हो क्रम मुक्ति चाहते हो तो निश्चित रूप से लाज बिल्कुल छल कपट नहीं इसी प्रकार नाम आया हाँ ढोंग तो करना ही नहीं मिथ्याचार है वो कर रहे नहीं देख लिया भगत आ रहा आरत बैठ के ये काम नहीं अंदर सो रहे हैं भगत चला को बिठा दिया बाहर के भाई बहुत देना ध्यान में एक भगत हम जाएंगे गुरु जी बहुत श्रद्धा थी लाखों रुपया दिया था तो विदेश का आदमी था भारतीय है लेकिन विदेश में रहता है तो भारत आए थे तो उनके दर्शन करने इधर आ गए थे देहरादून में कथा हो रही थी तो वहां गए जैसे बीमारी आ सकती कल का मेरे क्या गुरु है इसको क्या करो भैया तो गड़बड़ है तो इसीलिए शरीर को जो गुरु मानना है सबसे बड़ा अपराध है कि उनमें रहने वाला आत्मा को मानो या अपनी आत्मा को मानो चाहे किसी और आत्मा को मानो या पत्थर को मान लो ठीक है कम से पत्थर को बीमारी तो नहीं होगी कोई मांगेगा भी नहीं हाँ ये गुरु लोग तो मांगते रहते हैं हाँ गुरु मांगता तो नहीं कम से कम तो इसलिए हमने उसको बड़ा समझाया तो फिर वो गया यहां से बड़ा खुश होकर के गया मैंने कहा नहीं चढ़ाना जाओ फिर कल खतरा है कहेगा ये भी खाए तो फिर बाद में फिर कुछ और कर दोगे तो इस तरह के कारण क्यों है खाद्य माया है दम है न माया चाहिए यस्त उपलक्षित उत्तराय प्राणाप्त भाव विरज शुद्धो जो व्यक्ति आदित्य उपलक्षित उत्तरायण मार्ग जो प्राणाप्त भाव को प्राप्त करना चाहता है क्यों वह विरज है शुद्ध चंद्र ब्रह्मलोकवत चंद्र रूपी ब्रह्मलोक के समान रजस्वलो अर्थात वृत्ति क्षयाद वृत्ति नहीं असौ ऐसा यह विरज ब्रह्मलोक है शुद्ध ब्रह्मलोक है अर्थ उत्तरायण रूप ब्रह्मलोक है केशा किनको मिलेगा देशा उन लोगों को मिलेगा यथा ग्रस्ता नाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्ता जीवम कौटिल्य वक्र भावो अवश्यम देखो क्योंकि गृहस्थों के लिए अनेक विरुद्ध संव्यवहार रूपा प्रयोजन वाला होने के कारण से उसके लिए जीव निश्चित रूप से होता है जीव मैंने कौटिल्यम वक्र भावो उछल कपट उसे करना ही पड़ेगा अवश्यम भावी तथा न एस उस प्रकार जिनमें इस को वक्र भाव नहीं कुटिल भाव नहीं है और तीसरी प्रकार यथाच गृहस्थान क्रीड़ा नर्म आदि निमित्तम अनृतम अवर्चनीय क्रीड़ा कंदुकारी खेल में झूठ बोलना पड़ जाता है नहीं और नर्मादि नर्म मैंने हाथ आदि काल में भी वास्तविक रहे होकर के जिसको हंसाना ही है या खुद हंसना चाहे तो कुछ जोक कर दिया झूठी कहानी बना दी झूठी कहानी बना देने से झूठ तो है वो भले आपने हंसाया नर्म ने हास नर्म आदि हास आदि निमित्त का अनृत अवर्चनीय है उस गिरस्तों के प्रति तथा नएश उस प्रकार जो लोग किसी भी निमित्त से भी झूठ नहीं बोलते तथा माया ग्रस्ता नाम एवं नएश विद्यते ग्रस्त में जिस प्रकार होता है उस प्रकार से बिल्कुल चिन्ह में नहीं है क्या होता है वहाँ माया नामा बहिर अन्यथा आत्मान प्रकाश्य अन्य कार्य करोती सा माया मिथ्याचार रूपा बाहर